और यकीनन हमने यकीन कर लिया कि हम अल्लाह ताला को ज़मीन में हर गिज आजिज नहीं कर सकेंगे और ना ही भाग कर उसे आजिज कर सकेंगे